इनसे मिलिए कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हमने आपको सुनवाई एक बेहद दुर्लभ और महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हिंदी फिल्मों में ऐतिहासिक फिल्मों की धारा के बेताज बादशाह सोहराब मोदी से ये बातचीत सविता बजाज ने की थी इस बातचीत का दूसरा भाग आज हम आपको सुनवा रहे हैं अच्छा मोदी साहब आपकी इस बात को सुन के मुझे एक और बात याद आई आपकी पुरानी फिल्म पुकार जी वो आप दोबारा बनाने की सोच रहे थे लेकिन बाद में उसका कुछ म्यूजिक जी हाँ वो सही है पुरानी मेरी पिक्चर पुकार जो आज तक मार्केट में चल रही है और रिवाइवल्स होते रहते हैं उसको मैंने सोचा था कि मैं उसको दोबारा बनाऊं लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि जिसकी वजह से मैं उस प्रोग्राम को पूरा न कर सका अच्छा आपकी तो पूरी जिंदगी फिल्में बनाती और फिल्मों में एक्टिंग करते भी तकरीबन आप आपको कैसे लगता है ये जो बदलाव है आजकल के ज़माने का और आपके ज़माने का जो था उस दोनों चीज़ों को आप किस तरह से तराजू में तोलते हैं हाँ मैंने तो दोनों लाइव देखी है दोनों टाइप ऑफ पिक्चर्स देखी है और दोनों बनाने के तरीके भी देखे हैं और मैं समझता हूँ कि अगर कोई तरीके बदले न जाए तो दैट इज डेथ अगर आज बदले ना जाए बदले ना जाए तो वो मौत है तो मौत है because dead body only can not Hmm. लेकिन जिंदगी जिसे कहते हैं वो is a continuous change in life and the process and there आज के ज़माने में अगर आज की हमारी जनता या आज के हमारे यंगस्टर्स आजकल जो पिक्चर जिस टाइप की बन रही उसको पसंद करते हैं तो good luck to the producer ji मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके वक्त में जो बातें होती थी और आजकल जो फिल्म मेकिंग का जरिया है या स्टोरी राइटिंग का जरिया है या डायरेक्शन का है उसमें कुछ तब्दीलियां हुई जो आपको अच्छी लगती है या खराब लगती हैं मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिस टाइप की पिक्चर्स आज बनती है वायलेंस पिस्तौल चलती है ब्लड हम्म। निकलता है लड़की को उठा के ले जाता है ये सब चीजें आजकल जो ज्यादातर बनती हैं वैसी चीज मैं नहीं बना सकूंगा हम्म। और अगर मुझे बनाने का मौका भी मिला तो मैं नहीं बनाऊंगा लेकिन आप ये तो बता सकते हैं कि अगर तरक्की हुई है तो किस तरह से तरक्की हुई है फिल्म इंडस्ट्री में तरक्की हुई है टेक्निक में एक जमाने में साइलेंट पिक्चर्स थी बाद में टॉकीज बनने लगी फिर 35 मिलीमीटर mm आई अब 70 मिलीमीटर mm और सिनेमास्कोप आ रहा है अब स्टीरियोफेनिक साउंड आ रहा है तो इस तरह की टेक्निकल इम्प्रूवमेंट हद से ज़्यादा हो रही है और वो होती रहेगी बाकी पिक्चर मेकिंग का तरीका तो जो हमारी आम जनता मांगेगी वही तरीका और वही टाइप की पिक्चर प्रोड्यूसर बनाएगा because producer is not a school अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये टाइप की पिक्चर न बने तो let the government finance it वैसे आप कभी कभी हिंदी फिल्म देखते तो होंगे गलती से मैं खाम खां देखता हूँ गलत इससे नहीं मैं तो जाके तो देखता हूँ मैं इसलिए देखता हूँ किस टाइप की पिक्चरों में लोग मरते हैं दैट्स हम्म। ऑल और कुछ नहीं एंटरटेनमेंट करने के लिए एंटरटेनमेंट तो मुझे चाहिए ही नहीं वैसे आपको ऐसा नहीं लगता फिल्में <laughs> देख के कि कहीं कहीं कला खत्म हो रही है आजकल नहीं कला तो कभी खत्म नहीं होगी कला का रुख बदला जा सकता है कला दूसरी तरीके से होती है और कला तो उस हद उस एज में जो कुछ बन रहा है और जो कुछ बनना चाहिए उसी को कला कहते हैं पुरानी कला और आज की कला उसमें फर्क है लेकिन कला कला ही है वो कभी खत्म नहीं होगी अच्छा आप तो फिल्में बनाते रहे बनाते रहेंगे हम्म। मेरा ख्याल से कुछ प्लानिंग चल रहा होगा आपका फिल्म बनाने का आ, हाँ कुछ चल तो रहा है है ना तो हाँ। जब खाली वक्त आपको मिलता है तब आप क्या करते हैं खाली वक्त मिलता है तो जब मैं फिल्म बनाने का प्लानिंग कर रहा हूँ तो शायद मुझे खाली वक्त बहुत ही कम मिलता है और जब मुझे खाली वक्त मिलता है तो मैं कुछ शेक्सपियरियन प्लेज अभी भी पढ़ता हूँ बिकॉज वो उसके ऊपर मुझे बेहद दिलचस्पी है उनके प्लेजों से और साथ साथ मैं स्वामी विवेकानंद राम तीरथ उन लोगों के वॉल्यूम्स और उन लोगों की बुक्स पढ़ता हूँ जो मुझे अंदरूनी स्ट्रेंथ देती है लाइफ के साथ आगे चलने की और दुनिया में हर एक अगर कोई मेरे खिलाफ हो तो उसके साथ मुकाबला करने की मुझे स्ट्रेंथ मिलती है विवेकानंद को मैं काफ़ी पढ़ता हूँ राम तीर्थ स्वामी को पढ़ता हूँ श्री रामकृष्ण परमहंस के टीचिंग्स को हम्म। पढ़ता हूँ इस तरह मैं आगे बढ़ते रहता हूँ जब मुझे खाली वक्त मिलता है तो I think that is the best way I pass my time या तो मैं फिर सो जाता हूँ अच्छा मुझे सर एक बात बताइए मुझे वो ये कि किस तरह से आपका रुझान हुआ आध्यात्मिक पुस्तकों की तरफ शेक्सपियर तो आप जमाने से पढ़ रहे हैं जी हाँ जी हाँ, जी हाँ। जब से आप स्कूल में थे हाँ। तो ये सडन चेंज कैसे आया आपकी पर्सनैलिटी में ये स्वामी विवेकानंद को पढ़ने का और नहीं वो तो वो चेंज तो मुझे आया आज बरसों से आया मैं फिल्म लाइन में एंटर हुआ उसी वक्त से मेरे हाथ में स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस के टीचिंग्स की किताब हाथ में आ गई और जब मैं हिस्टोरिकल पिक्चर्स बनाने के लिए हिस्ट्री ढूंढा रहा उस वक्त में ये बुक्स भी मेरे हाथ में आ गई हम्म। और ये बुक्स हाथ में आने के बाद मुझे उसकी तरफ काफ़ी से ज़्यादा रुझान हुआ तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया हम्म। और पढ़ने के बाद आज तक उसको पढ़ता हूँ और कुछ उनके टीचिंग्स जितना मुझसे हो सके उतना एम्यूलेट करने का प्रयत्न करता हूं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए इनसे मिलिए कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता और निर्देशक सोहराब मोदी से सविता बजाज की बातचीत आज आप सुन रहे हैं मुझे कहते हैं कि सच्चे कलाकार की रूह हमेशा प्यासी रहती है और प्यास तब मिटती है जब अच्छे अच्छे किरदार निभाए जाएं कला के अच्छे अच्छे नमूने पेश किए जाएं आपकी प्यास अधूरी है या कि मेरी प्यास कुछ अधूरी है क्योंकि अभी मैं एक पिक्चर बनाने की सोच रहा हूँ जिसमें मैं पुराना म्यूजिक और नया म्यूजिक हम्म। नया म्यूजिक यानी आजकल का लारा लप्पा लारा लप्पा हम्म। और पुराना म्यूजिक अपने उस्तादों का जो कुछ क्लासिकल म्यूजिक जिसे कहते हैं उसके साथ के मुकाबले में एक दिखाई दूं ऐसी एक पिक्चर मैं बनाने के लिए तैयारियां कर रहा हूं अगर आप लोगों की दुआ हुई और ईश्वर की कृपा हुई तो उस पिक्चर को मैं अपने हाथ में लूंगा बनाने के लिए अच्छा उसमें आप खुद कोई किरदार निभा रहे जी शायद उसमें मैं किरदार निभाऊंगा लेकिन कोई इतना अहम किरदार मैं निभा नहीं लूंगा क्योंकि ये जो टाइप ऑफ सब्जेक्ट है उसमें मेरे लायक कोई ऐसा किरदार नहीं है फिर भी कुछ न कुछ जगह पे मैं उसमें अपना किरदार तो जरूर करूंगा और उसको जितना हो सके उतना कामयाब करने की कोशिश करूंगा मैं ख़ास तौर से ये पिक्चर बनाने के लिए इसलिए तैयार हो रहा हूँ हम्म। कि इसमें मैं दिखाता हूँ कि हमारा क्लासिकल म्यूज़िक क्या है और हमारा प्रेजेंट म्यूज़िक क्या है वो उसका डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ अच्छा एक छोटी सी पर्सनल बात है जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो औरतों को तो फिल्मों में काम करने नहीं दिया जाता था तो आपने एक ऐसी महिला से शादी की जो कि एक्ट्रेस भी थी और आपकी वो बीवी बनी जी। और बाद में भी वो काम करती रही और अभी भी काफी बिजी है हाँ, अभी बिजी फिल्म्स तो में नहीं है फिल्म्स में हाँ, नहीं है हाँ। लेकिन कुछ ना कुछ जी हाँ जी हाँ तो वो तो करती रहती होना ही चाहिए करना ही चाहिए तो आपके जमाने में ये सब ठीक था आपको अच्छा लगता था तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ करना चाहिए वो मैं कर सकता हूँ और अगर औरतें रेडियो पे आ सकती हैं अगर औरतें ऑफिस में सेक्रेटेरियट काम कर सकती हैं औरतें और दूसरे सब हमारे काम ले सकती हैं इतना क्यों ट्राउजर्स और शर्ट्स पहनना शुरू किया है <laughs> बाकी पहले तो आप लोग सिर्फ साड़ियाँ पहनते थे तो <laughs> अच्छा। जब उन्होंने सब काम लेना शुरू किया है तो लेट देम डू इट और आजकल का ज़माना ऐसा है बढ़ती हुई पॉपुलेशन इकोनॉमिक कंडीशन आज वो इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है कि जिसकी वजह से औरत घर में बैठी रहे she has also to earn कि जिससे फैमिली चल सके घर का चूल्हा रोशन रह सके इसलिए वो करती है वो जानती है कि यहाँ पर मजबूरन औरत को काम करना पड़ता है ज़माना इतना बदल गया है कि हाउ कैन दे लिव घर की औरत भी अगर सपोर्ट ना करे तो घर चलाना मुश्किल पड़ता है इसलिए द चेंज मस्ट कम अगर चेंज नहीं आता है तो डेथ जैसे मैंने आपसे अर्ज की अच्छा एक छोटी सी राज की बात पूछना हाँ, चाहूंगी हाँ। इस उम्र में भी आपकी आवाज इतनी तरोताजा कैसे तो अब ईश्वर की शान है बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता मुझे अक्सर लोगों ने कहा है कि और ख़ास तौर पे मेरे मरूम फ्रेंड चंदूलाल शाह वो कहते थे कि Saurabh ji you are a one way street man मैंने कहा भाई मैं वन वे स्ट्रीट मैन हूँ हम्म। घर से दफ्तर दफ्तर से घर या कहीं एंटरटेनमेंट को गए कहीं पार्टीज में कहीं फ्रेंड्सों के साथ मिले इधर उधर मेरा भटकना नहीं है और मुझे घर से दिलचस्पी है या मेरी ऑफिस से दिलचस्पी बहुत खूब मुझे सब आपने फिल्मों में एक्टिंग भी की और फिल्मों का डायरेक्शन भी दिया लेकिन दोनों को करते हुए किस में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला सेटिस्फेक्शन तो मुझे दोनों में मिलता है लेकिन मैं एक्टर के तौर पे काम करने में ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ इसलिए कि मेरे दिल में जो है कहना चाहता हूँ वो मैं एक्ट करके करूँ विजुअली और साउंड uh, के जरिए हम्म। वो मैं कन्वे कर सकता हूँ एज अ डायरेक्टर मैं स्क्रीन के पीछे हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ सिवाय कि मेरा रिजल्ट लोग देख के बोलते हैं कि अच्छा है या बुरा है हम्म। इसलिए मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है सामने आके और हाँ। इसीलिए मैं स्टेज एक्टिंग को ज़्यादा तरजीह देता हूँ क्योंकि स्टेज एक्टिंग में you are face to face with the audience और हम्म। तुमने एक अच्छा अच्छी लाइन या अच्छी शेर कही स्टेज पे हम्म। तो उसी वक्त तुमको अंकोर मिलता है हम्म। उसी वक्त लोग तालियां देते हैं अच्छा। तो उस वक्त एक्टर का दिल एकदम उभर आता है एक मुझे एक इंसिडेंट याद है एक जमाने में एक एक्टर थे जो कीचक का पाठ करते थे अच्छा। मैं उनका नाम इस वक्त भूल गया मराठी में थे वो और एंड में जब कीचक का वध होता है तो लोगों कीचक को गालियां देते थे हम्म। अगर किसी वक्त लोगों ने गालियां नहीं दी तो अंदर जाके कहते थे आज चांगला पार्ट नहीं झाला माजा ये एक्टर की खूबी है हम्म, हम्म। अक्सर मेरे को तो हमेशा लोगों ने तालियों से ही मुझे आप एक अरसे तक तो फिल्मों में दिखाई दिए नहीं एज एन एक्टर लेकिन हाँ। हाल ही में कहीं न्यूज पड़ी आप कुछ फिल्मों में हाँ। किरदार कर रहे हैं हाँ। ताज्जुब हुआ मुझे गुजराती में मसल है हम्म। नो लिकरो जीवे तो सुधी सिवे मतलब ये कि दर्जी का बेटा जब तक जिएगा तब तक सिएगा अच्छा तो being having started life as an actor तो मरूंगा वहां तक एक्टिंग तो करूंगा ही तो इसमें ताजुब होने की बात हम्म। नहीं है मैं जरूर एक्टिंग करता रहूंगा जब तक कि मेरे सांस में सांस है मेरी सेहत मुझे परमिट करेगी ये था जाने माने अभिनेता और निर्देशक सोहराब मोदी से सविता बजाज की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से हासिल की थी अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम खत्म होता है